और जब हम इंसान को किसी रहमत का मजा चखा देती हैं फिर वो उससे वापस ले लेते हैं तो वो मायूस और नाशुकरा बन जाता है